ऐसा क्यों होता है कि एक बाप अपने बेटे से कह नहीं पाता कि वो उससे कितना प्यार करता है उसे गले लगाकर क्यों नहीं कह पाता कि आई लव यू माई सन और माँ माँ कहती रहती है कहती रहती है बेटा सुने या <laughs> ना सुने तो इसका ये मतलब तो नहीं कि एक बाप अपने बेटे से कम प्यार करता है माँ अपने बेटे से कितना प्यार करती है इसका जवाब कोई नहीं दे सकता माँ भी नहीं क्योंकि इसका कोई जवाब ही नहीं है ये सिर्फ एहसास है मां का एहसास मेरा बेटा राहुल मेरी जिंदगी शाहबाज मसूरी के बीच का क्रिकेट मैच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर पहुंच चुका है फाइव रन और एक बॉल वुडस्टॉक इंटरनेशनल के नौ साल की जीत की कड़ी क्या एक बॉल में टूट सकती है captain Vivek Singh spreads his field towards the boundary और दोनों बैट्समैन अपनी अपनी पोजिशन ले रहे हैं स्टूडेंट्स की एक्साइटमेंट बढ़ रही है the tension is mounting Manor House को एक बॉल में पांच रन चाहिए will Rohan do it Stock International की 9 साल की जीत की कड़ी को तोड़ना सिर्फ रोहन के हाथ में है seems impossible nothing is impossible the entire game rests on Rohan shoulders Manor House is confident कि रोहन ये कर पाएगा Five runs in one ball, he needs to hit a six. It's ridiculous. Nothing is ridiculous for Rohan Raikant. जिंदगी में कुछ बनना हो कुछ हासिल करना हो कुछ जीतना हो तो हमेशा अपने दिल की सुनो और अगर दिल से भी जवाब ना आए तो अपनी आंखें बंद करके अपने माँ और पापा का नाम लो फिर देखना तुम हर मंजिल पा सकोगे हर मुश्किल आसान हो जाएगी जीत तुम्हारी होगी सिर्फ तुम्हारी तुम्हारी, तुम्हारी। दैट what can I say I am just the best hey dad मैंने आपको सीएनएन पर देखा you look great now I know मेरे अमेजिंग गुड लुक्स मुझे कहाँ से मिले एनीवेज <laughs> मेरा फाइनल टर्म खत्म हो चुका है और मैं दिवाली के लिए घर वापस आ रहा हूँ can't wait to see you guys lots of love Rohan yes yes, घर आने से पहले मैं हरिद्वार जा रहा हूँ to meet my two favourite girlfriends Haridwar Haridwar में तुम्हारी कौन सी गर्लफ्रेंड्स है हाँ मेरी दादी और नानी ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਛੱਡੋ ਫਿਰ ਰੋਇਓ ਮਜ਼ਾਕ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਲਾਜੂ ਜੀ आजकल राहुल की बहुत याद आती है याद तो मुझे भी बहुत आती है लेकिन इन दिनों तो कुछ ज्यादा ही बेचैनी हो रही है क्यों होया देखो हमने तो अपनी उम्र जी ली अपनी गल करो मेरी तो टचवुड लंबी उम्र है हाँ लेकिन मुझे तो ईश्वर के घर जाना है क्या मुंह लेकर जाऊंगी क्या कहूंगी कि मैं अपने बिखरे परिवार को संभाल न सकी अपने पोते को घर वापस न ला सकी क्या मुंह लेकर जाऊंगी तुम इस गल की फिक्र ना करो ईश्वर से तो थोड़ी मुलाकात नहीं होनी है क्यों वो जन्म में किसी से नहीं मिलते हाँ। फिर वही मजाक Hey, sweetheart. रोहन नानी <laughs> hmm. मेरा बच्चा क्या बात है नानी तुसी बड़े सेक्सी लग रहे हो जानती हूँ सब यही कहते हैं <laughs> नानी माँ जीते रहो बेटा हम्म। बहुत कमजोर हो गया मेरा पुत्र अब सब लोग थोड़ी तरह तंदुरुस्त तो नहीं हो सकते ना हाँ तू चुप कर क्या हुआ नानी ये हुआ रो रही है तब ठीक है नहीं रोती है तब डर लगता है oh stop it now you too ना ना लाजू जी ना रो लाजू जी ना रो आप रोगे तो रोहन सवाल करेगा और उसके सवालों का हमारे पास कोई जवाब नहीं है क्या करूं और क्या करूं रोहन को देखकर राहुल की याद आती है तुम्हें नहीं लगता हमें सब कुछ बता देना चाहिए कैसे बता दे लाजू जी यश ने मना कितना है रोहन तो कार में था भी नहीं जब राहुल कार छोड़ के गया है वो कुछ नहीं जानता मेरे ख्याल से तो सब कुछ बता देना चाहिए अब हाँ। कहाँ से शुरू करें और क्या क्या बताएं? वो तो यह भी नहीं जानता कि राहुल या नंदिनी का अपना बेटा नहीं है उसे गोद लिया था उन्होंने राहुल दो दिन का था जब यश और नंदनी उसे घर लेकर आए उसके नन्हे कदमों ने हम सबके दिल में जगह बना दी वो नंदनी की जिंदगी बन गया और यश का सपना पूरा हो गया नौ साल के बाद जब तुम पैदा हुए तो ऐसा लगा हमारा परिवार पूरा हो गया है मुझे आज भी याद है पंडित जी ने कहा था कि तुम भाग्या की रेखाओं से लड़के जन्मे हो तुम हमारी शक्ति बनोगे क्या राहुल भैया जानते थे कि वो राहुल आठ साल का था जब उससे पता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 Yes, it is. अच्छा राहुल एक बात बता हम्म। ईमेल्स लेटर्स फैक्सेस सब भेजे एक का भी जवाब नहीं दिया हम्म। Very rude. MBA is a tough job, Naina MBA नहीं बिजी रखा है या कुछ और भी काम था थी <laughs> एक हो तो बताओ You know me. आहा you study Yeah, me stud me. <laughs> बोलो ना राहुल तुम्हें क्या लगता है मुझे लगता है क्या कि... लगता है मुझे लगता क्या है क्या लगता है नैना मुझे लगता है राहुल कि मेरे सिवा तुम्हारे साथ और कौन टाइम वेस्ट करेगा और वैसे भी लड़की के साथ क्या करना है तुम्हें क्या पता oh, really? हम्म। लड़की के साथ ऐसा करते हैं हाँ? <laughs> अच्छा ये थोड़ी भी याद है कि नहीं सच बोलू कि झूठ झूठ ही बोल ठीक है अगर झूठ बोलना है तो तुम्हारी याद बिल्कुल नहीं आई <laughs> स्वीट ना मेरी छोड़ो तुम वैसे की वैसे हो या कोई पागल तुम्हें इंटरेस्टेड है तुम्हें क्या लगता है मुझे लगता है क्या लगता है राहुल मुझे लगता है क्या लगता है राहुल मुझे लगता है कि I will beat you to that door really really don't bet on that hey Naina come here come एक बार फिर से out, out, come on, yes, out, out, out, out, out, come on, yes, yes. Yes, yes, yes, yes, school नहीं जाना तेरे को. I'll take that, thank you. ये ले ले खा ले खा ले हट Score क्या हुआ Hundred and four for 10446 isn't that great damn good यार, कितने overs हैं वो Oh, oh, we got them we got them yes yes yes yes god भैया i think india gonna kill england yes Last minute पे कुछ भी हो सकता है इंडिया का कोई भरोसा नहीं you never know with India Rohan thank you दाइजान दाइजान we winning yes yes we got them कौन सी बड़ी बात है यस इंग्लैंड तो 1947 में आउट हो ही गई थी <laughs> PJ that was a PJ अरे अल्लाह अल्लाह अल्लाह ये पाव है कि क्या दाईजान ये अभी भी अपने शूलेस बाना नहीं सीखा तो क्या हुआ छोटा सा बच्चा है सीख जाएगा अरे आप इसे करने नहीं दोगे तो सीखेगा कैसे मोटू लड़ने से वापस क्यों आया क्या हो रहा है यहाँ क्या माँ आपने इस रोहन को खिला खिला के कद्दू बना दिया कद्दू हाँ हाँ हंसो हंसो जब मैं बोर्डिंग स्कूल चला जाऊंगा ना तब याद करना मुझे nobody loves me by the way मोटू माँ मुझे तुझसे ज्यादा प्यार करती है दीदी देखो ना देखो ना कुछ नहीं कुछ नहीं चलता है तुझसे <laughs> God, I missed you, hmm. I missed you too, baby. Hmm. मुझे छोड़ के फिर से तो नहीं जाओगे hmm, लेकिन आप प्रॉमिस करो मुझे इस कद्दू की तरह खाना नहीं खिलाओगे नंदनी ओ <laughs> oh. नंदनी जी आ रही हूँ अरे भाई बेटा क्या आ गया आप तो भूल ही गए हमें ये टाई कौन गए मेरे बगैर इतना भी नहीं कर सकते आप अब लग रही हैं आप Mrs Yashvardhan right Thank you. Morning, Anwar. Good morning, sir. Your fax is from Malaysia. Cancel all engagements for today and set up an appointment with my son, 11 o'clock. Sure, sir. Nice machine. Let's get a couple of more of these. This is for you, my son. I'd say the Reichand Empire belongs to you. Cheers. Cheers, Papa. Whoops, sorry, Dad. Dadaji. Jai He was a great man, Rahul. Great man. Just look at him. Look, just look at him. What a personality. What stature. Eh? Sometimes I wish I could just stand like him. Stand like him. Hey, hey, hey, forget it. <laughs> Sorry. You know, राहुल तीस साल पहले इसी चेंबर में उन्होंने मुझसे कुछ बातें की थी जो आज मैं तुम्हें बताना चाहूंगा उन्होंने कहा था कि जिंदगी के रास्ते अलग अलग होते हैं उसी रास्ते पर चलो जो सही हो कदम मत उठाना जिसकी वजह से परिवार की इज्जत पर नाम पर आंच आए पैसा तो हर कोई कमा लेता है लेकिन इज्जत कमाना सबके बस की बात नहीं उनकी कही हुई बातें मैं आज तक नहीं भूला रहा हूं आज तक नहीं भूला तो भी मत भूलना वादा करो कि तुम हमारे परिवार की परंपरा का पालन करो वादा करो कि तुम इस परिवार की इज्जत पर कभी आंच नहीं होने दोगे मैं वादा करता हूं पापा मैं इस परिवार का नाम हमेशा ऊंचा रखूंगा मैं वादा करता हूं मैं आपको हमेशा हमेशा खुश रखूंगा हमेशा बाबा खुरायन के बेसन के लड्डू बिक गए खरीदा कौन ये ग्राहक आया मुझसे कहने लगा ऐसे लड्डू खिला जिस तरह पागल हो जाऊं ठकुराइन तो के लड्डू खा के तो अच्छा खासा पागल भी ठीक हो जाते और जो ठीक है वो तो जोक था जी छोड़ो जी पकड़ा कब था जी बस भी रुक ए ज्यादा शोर शराबा ना करियो लड़के वाले आए हैं मिलने बैठो बेटी सलाम करो सलाम <laughs> वालेकुम अस्सलाम बड़ी अम्मी उठो दुल्हन आई है हाँ? अस्सलाम वालेकुम <laughs> माशाल्लाह हम्म। माशाल्लाह चौधरी का चांद जैसे ही सोचा था <laughs> वैसे ही आया नहीं नहीं मैं नहीं मेरी बेटी रुखसार मेरी बच्ची आदाब बुखार बुखार नहीं अम्मी रुखसार रुखसार रुखसार ओ रुखसार बड़ी सहमी सहमी और चुपचाप रहती है हमारी बच्ची हाँ। अल्लाह क्या हुआ सहमी और चुपचाप हम्म वैसे क्या उम्र होगी बेटी जान की सौ हम्म। बड़ी कह रही है सौ साल की है नौ साल की बस इक्कीस की होने जा रही है अब पाली उम्र पाली उम्र पाली उम्र वैसे तो हम लखनऊ के रहने वाले हैं ये तो चांदनी चौक है खैर छोड़ो अरे मैं तो बताना ही भूल गई मेरे बेटे का नाम है अश्वा अच्छा। सचिन सचिन सचिन अगर कोई और हो तो नहीं नहीं ये आप कैसी बातें कर रही कोई और वो के ओ, ए, इनके इनके चाचा सचिन चाचा मरहूम चाचा सचिन ये उनसे बहुत प्यार करती थी हर खुशी के मौके पर उन्हें बहुत याद करती है सचिन, सचिन हाँ सचिन बेचारा सचिन बेचारा चाया से हाँ हाँ मैं तुम दोनों का क्रिकेट का भूत देखो ना किस तरह उतारती हूँ बाबूजी से सारी बातें बताती मैं हाय अल्लाह खैरियत बाबूजी अरे नाना मेरी छड्डो ये बताओ इसने क्या कर दिया ये पूछिए क्या नहीं किया अच्छा खासा रिश्ता हाथों से निकल जाने वाला था क्या one eighty by hundred BP high BP high वाई है हाई तो है और वाई तेरी वजह से है अम्मी ये डोज मैंने स्ट्रॉन्ग कर दिया है आप मंगवा लीजिए जी अच्छा आइए क्या ओम भाई आपको अपना ख्याल रखना चाहिए ऐसे थोड़ी चलता अरे नहीं हाँ खाला तो- बाबूजी तुसी अपना ख्याल नहीं रखते हाँ और तू चुप कर नहीं बोलदा मैं तेरे नाल क्यों क्यों हाँ। क्या कह रही है सईदा हाय भाई साहब मैं कौन सा संजीदा हूँ मैं तो मजाक कर रही थी लो कमाल करते हो आप ही ने बिगाड़ा मेरी दोनों बेटियों हाँ, को क्या ये दोनों बच्चियां मेरी नहीं है खैर छोड़िए इन बातों को खुशखबरी तो ये है कि मेरी पगली उन्हें पसंद आ गई रिश्ता कबूल कर लिया उन्होंने कबूल हो गया उन्होंने तुझे ठीक तरह से देखा नहीं क्या हमें छड़ के चले जाओगे जाना तो एक दिन तुम सभी को है मैं भी अपने बाबूजी को छड़ के कहीं नहीं जाऊंगी <laughs> मैं भी नहीं जाऊंगी तो फिर मैं चला जाऊं मैं कैसी गल्ला करते हो तुसी बाबूजी ओए पुत्र शादी तो तेरी होनी है बस रब से यही प्रार्थना है कि तुझे जो लड़का मिले वो तुझे मुझसे भी ज्यादा प्यार करे ले ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं है बर्ड मैं हूं ना ओ शरब Rahul you behave very badly today I am sorry आज पार्टी में ना तुमने डांस किया ना खाना खाया ना किससे बात की और ये भी नहीं कहा कि मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो नैना रियली हाउ स्वीट मैं स्वीट भी हूँ और झूठ भी अच्छा बोलता हूँ नो हाँ? हे नैना तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो अब सच बोल रही हो झूठ तुम्हें क्या लगता है मुझे लगता है क्या लगता है मुझे लगता है क्या लगता है नैना लाल मुझे लगता है कि अब तो जाना चाहिए वैसे भी मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा था but thanks for offer good night bye bye मैं झूठ बोल रहा था which is the longest river in the world Nile sure confident शराब हे पापा हे मॉम दादी माँ फैडी dad Rahul stop it sorry papa क्या चल रहा है मां कुछ नहीं डैड की सरप्राइज पार्टी की प्लानिंग हाँ, और क्या रोहन बड़ी इस लड़के के पेट में कोई भी बात नहीं रहती पहले से इसके पेट में इतना सब कुछ जो है राहुल तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए मॉम हम्म? ये सोसाइटी पार्टीज बहुत बोरिंग होती अच्छा हम्म। तो इन बातों पर तुम बिल्कुल अपने पापा पर नहीं गए क्योंकि तुम्हारे पापा को ये सब पार्टीज बहुत अच्छी लगा करती थी हम्म। वहाँ बहुत सी लड़कियाँ हुआ करती थी हाँ। इसलिए नंदनी उन लड़कियों को देख के बहुत खुश हुआ करते थे तुम्हारे पापा नंदनी जी अगर मैं उन खूबसूरत लड़कियों को नहीं देखता तो आप कहाँ से आते तुमने क्या किया तुम्हारे पिताजी नंदनी को ढूंढ कर लाए जब उन्होंने पहली बार नंदनी को देखा हम्म। बहुत खुश हुए हम्म। और कहने लगे मुझे ये रिश्ता मंजूर है लेकिन दहेज देना पड़ेगा बहू को बाबुल के घर से ढेर सारा प्यार और एक लंबी सी सीढ़ी लानी पड़ेगी परंपरा तो अच्छी है घर के बड़े घर की बहू ढूंढ लाते हैं वरना इन पगलों का क्या भरोसा क्या नहीं माता जी वो तो तब की बात थी आजकल तो सब कुछ बदल गया है कुछ नहीं बदला नंदिनी जी आजकल तो बच्चे खुद ही कुछ नहीं बदला मेरे कहने का मतलब कुछ नहीं मतलब जी वो कह दिया ना बस कह दिया इश्फाक मियाँ अभी तक तो हमने उन्हें देखा भी नहीं हमसे भी मिलाओ शिलाओ हम भी कुछ देखे वो आज ही आ रहे हैं लखनऊ से और आज ही आएंगे तुमसे मिलने फिर बताना कैसे लगे वो वो ये दुल्हन बुल्हन की एक्टिंग बंद करो हाँ। वैसे क्या करते हैं वो लखनऊ में शायर हैं शायर है हम्म। फिर तो हमारी खूब जमेगी हम्म। अच्छा वो क्यों क्या है ना कि थोड़ी बहुत शायरी हम भी कर लेते हैं अरे वाह उस्ताद अंजरी अली हाँ अर्ज करूं और इसका नाम इरशाद इरशाद क्या मुसीबत मैंने पाला वाह वाह वाह हम्म। क्या मुसीबत मैंने पाला हाँ। एक तरफ रुखसार तो दूसरी तरफ खाला पागल तुम दोनों जानती हो आज अखबार में हमारे बड़े साहब और बाबा की तस्वीर छपी है अच्छा दिखाओ हम्म। दिखाओ दिखाओ हाथ धोके हाथ धोके हाथ धोके हाथ धोके हाथ धो कल हमारे बड़े साहब की पचासवीं सालगिरह है बहुत बड़ी दावत है खूब सारे लोग आएंगे मैंने तो भाभी जी से कह दिया अगर मीठा आएगा तो चांदनी चौक का आएगा और वो भी हमारी अंजलि के हाथों का बना हाँ? हम्म। क्या कहा उन्होंने वो मान गई लेकिन अब तू भी जरा हमारी इज्जत रखना हम्म। तुम और रुखसार कुल्फी के थान लेकर पहुंच जाना हाँ। हाय रोबा कल तो बाबूजी का भी जन्मदिन है हाँ तो क्या हुआ थोड़ी देर से आ जाना उनकी दावत भी कौन सी जल्दी शुरू होने वाली है लो, लो, लो, लो। है नहीं तू कुछ नहीं जानती कल जरा ढंग के कपड़े पहनकर आना हाँ हाँ अम्मी मैं अपनी नई सलमा सितारा वाली सूट पहन के हम्म। जाऊंगी हाँ हाँ जरूर पहनना पार्टी में सब यही जानना चाहते हैं ना कि हमारी रुखसार बेगम क्या पहन के आ रही है हम्म। अच्छा चलो टोली हाँ? आई टोली आई टोली अरे नहीं नहीं आज नहीं रुखसार देखो ना अम्मी की तबीयत को देखो हालत तो हम्म, हम्म। हाँ। ए रुखसार आज आ रहे हैं ना हमारे दूल्हे राजा ये कहा आए हम हम टैकी टैकी के बच्चे दाईजान के लिए माने ने दवाइयाँ भेजी मैं देख आता हूँ बस अम्मी अब सो जाओ उफ करती हूँ मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है आई डोंट नो क्या होता है हाँ, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है ओके <laughs> अब आप ये कबूतर ए लड्डू चांदी चौक में नहीं ले सकते क्यों बस नहीं ले सकते और अगर एंट्री लेनी है तो ये कह के लेनी है कहो चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदनी की चम्मच से चटनी चटाई कहो एग्जैक्टली exactly मुझे क्या कहना है छोड़ो मत कहो ओके okay. मैं एक और कहूँ हाँ, एक और, yeah, एक और। okay, ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए ओके okay. एक आग का दरिया है और डूब के जाना है वाह वाह चंदू के चमचे की क्या था हम्म, मुझसे मिलने आए थे ना <laughs> नहीं मैं एक्चुअली दाईजान से मिलने आया था प्यार से उसे दाईजान बुलाते हो ऑफ कोर्स पाल पोस के उन्होंने बड़ा जो किया है पाल पोस के बड़ा किया है हुँ? हम्म। तो अब तो गोद में मैं भी खेली होंगी हाँ? चंदू के चाचा ने चंदू के चमचे कबूतर हाँ? अरे पकड़ो पकड़ो लड्डू को पकड़ो हाँ। शादी कब हम्म। किसकी आपकी और उनकी हाँ? हाँ? मैं दाईजान से कैसे शादी कर सकता हूँ हाय बड़े की हो बड़े मजाक की हो और क्यूट भी हो भैया भैया भैया बुढ़ी बुढ़ी किधर तो रुखसार से कहने वाली हूँ कि मुझे अशफाक मियाँ बहुत पसंद है एक्सक्यूज <laughs> uh, uh, मी कौन अशफाक मियाँ कौन अशफाक मियाँ कह रहे बेगम का घर पता है नहीं ओ oh गॉड कुछ पता है नहीं नहीं मुझे तो कुछ नहीं पता सब आप ही को पता है हाँ वो हमारी खाला है ना की होने वाली सास सईदा हाँ, बेगम हाँ, हाँ, हाँ पता है वो कहाँ काम शाम करती है बड्डे लोग बड्डी बड्डी बातें रायचंद का नाम सुना है देखिए खाक सुना होगा पता है आज के अखबार में फोटो शोटो आई है उनकी अच्छा हाँ टिप अरे वाह देखा तुसी नहीं मैं नहीं देखा मेरे ना लाओ मैं दिखा देती मुझे दिखाइए ना प्लीज मैं तो अखबार पढ़ता ही नहीं ना हेलो यशवर्धन रायचंद अच्छा अच्छा अच्छा एब्सोल्युटली अच्छा। और ये है उनके बेटे हैरोबा हम्म। ये तो बिल्कुल आप जैसा लगता है ना अरे मुझे दिखा मुझे दिखा ना हाँ। हाँ, अशफाक मिया अरे हम्म? नहीं नहीं तुसी कितने गए तुसी ते बड़े मजाकी हो तुसी ते बड़े मजाकी हो नहीं नहीं बड़े ही मजाकी हो भैया मेरे पीछे गुड्डे पड़े हैं ओह oh गॉड अरे सुन दो माय लवली ब्रदर मेरा भरा सुनिए सचमुच तुसी बड़े मजाकी हो आदाब मैं अशफाक और मैं झांसी की रानी Happy birthday to you Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Do-do-do-do-do-do. Thank you, my dear. Thank you. Excuse me. Excuse me, please. Before I raise this toast to Papa, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूं मेरा बचपन से एक सपना है कि मैं अपने पापा जैसा बन सकूं जैसा भी वो चलते हैं उठते हैं बैठते हैं हंसते हैं जैसा भी वो करते हैं मैं भी वैसा ही कर सकूं लाइक like, जैसे वो खड़े हैं इस वक्त like this can do it I know I can do it और शायद कभी कर भी ना पाऊं क्योंकि मेरे पापा जैसा इस दुनिया में कोई और नहीं मैं जानता हूं कि कहीं ऊपर कोई मुझसे बहुत खुश है कि उसने मुझे यह हक दिया कि मैं अपने आप को यशवर्धन रायचंद का बेटा कह सकूं गर्व से कह सकूं thank you And today, Baba, me and the three most beautiful women in the world, mm-hmm, Thank you. Three most beautiful women in the world Miss World, Miss Universe, Miss Asia Pacific, and Fatty. राहुल हम आपसे सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि we love you. We love you very much. You're the best, Papa. Look what he's done to me now. oh, हाँ हाँ मैं देखता हूँ दादी माँ आप मेरे साथ आइए Ladies and gentlemen, oh, forget it.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 मैं बताऊँ इसके बारे में बिल्कुल पागले पागली है <laughs> अपने घर में भी ना ये खाला खाला मैं बोलूँ हाँ मैं... बोलना माफी मांग हाँ नमस्ते हम्म। वो क्या है ना हम्म। बड़े साहब कि जब भी हम फिल्मी शिल्मी गाने सुनते हैं ना हाँ। तो हम भी थोड़े से फिल्मी हो जाते हैं हाँ। और वो खंडाला वाला गाना वो तो हमारा सबसे फेवरेट हैगा ए, क्या बोलती तू क्या बोला मैंने क्या बोले आई थी क्या बोले जा रही है खाला आप आप निकलिए यहाँ से चली जाइए मैं नहीं नहीं, नहीं, आपने नहीं, देखिए हमारी वजह से आपका इतना बड़ा गमला उमला टूट गया सी बस हाँ बादशाह जो भी हो हाँ, हम पैसे देने के लिए तैयार हैं वैसे होगा कितने का जी अब जो सही है तुमसे समझा चुप हाँ। चुप सब आपकी वजह से हुआ है मेरी मेरी वजह से आप नहीं आपकी वजह से नहीं अंजलि क्या सब कुछ गड़बड़ हो रहा है देखिए क्या है ना कि हमारे बाबूजी कहते हैं कि माफ़ी मांगने से तो कोई बड़ा छोटा होता नहीं और जो माफ़ कर देता है ना उनका दिल बहुत बड़ा होता है आपका दिल बड़ा है ना बड़े साहब अब तो माफ किया हाँ चलो माफ किया बड़े लोग बड़ी बातें अच्छा ठीक है चलती हूँ बड़ी मेम साहब को हेलो भाई गुरु आप सबकी कृपा करें हमेशा नमस्ते हाँ आप तो भी सईदन ले जा चल चल चल चल चल अब चल यहाँ से चल Ah, कमला यही वो लड्डू का स्कूल है हाँ, ना यही है चल जाके उसको मारते चलो ये मोटू छोटू पेटू जल्दी चलो हम्म। हम्म। बात कर रहा था really Adi from the underworld no no they from Chandni Chowk Chandni Chowk look at cloth so dirty look at hair so oily so वर्नी can she speak English Hindi बोलता है ना वर्नी <laughs> वर्नी इतने सारे दे दीदी मैं कुछ नहीं कर पाई यहाँ पे बड़ी दादी वादी बन के घूमती है वहाँ क्या हो गया था तुझे हाँ? दीदी आओ दीदी अरे हाँ। पर इसे हाँ। स्कूल के अंदर जाने की जरूरत क्या थी हाय रो बाबा जी कैसी गला कर रहे हो तुसी अरे स्कूल के अंदर ही तो गई थी ना किसी का खून छून तो नहीं किया था ना उसने अरे उनको ये सब बातें बोलने की क्या जरूरत थी मैं होती ना तो पकड़ पकड़ के मारती उन्हें हाँ।, हाँ हाँ फिर मेरी छोटी बहन का दिल दुखाया उन्होंने अरे मिलने दो उस लड्डू और उस पट्टू को मुझे बड़ा कवर शवर पे पोस्ट शोज करता है अरे सचिन तेंदुलकर की कसम चांदनी चौक के चौराहे पर उल्टा नहीं लटका दिया तो मैं भी अपनी बाबूजी की बेटी नहीं हाँ अंजलि अरे छोड़ो बाबूजी तुसी नहीं जानते पैसे के अमीर दिल के गरीब कभी न जाए ईश्वर के बहुत अच्छा बोला खुद लिखा है आपने हम्म। हाँ। नमस्ते जी नमस्ते नमस्ते, नमस्ते।, नमस्ते। अंजलि ये लोग पहली बार हमारे घर पे आए हैं इनके लिए कुछ खाने शाने को लाओ खा के आए होंगे साइज साइज नहीं देखा है हम्म। भैया नहीं सर खा के आए हैं हम खा के आए अरे नहीं नहीं खा के कैसा है मैं अभी लाया नहीं नहीं नहीं सर आप सर आप बिल्कुल तकल्लुफ मत कीजिए और यू ऑल्सो डोंट बॉदर नाम क्या है रोहन तेरा नहीं उसका पूजा लड्डू ये बिल्कुल तू चल hi Pooja what pretty eyes ए देखो कभी किसी का दिल नहीं दुखाते और खास करके किसी लड़की का और वो भी इतनी खूबसूरत लड़की का चलो सॉरी कहो और वैसे भी किसी ने मुझसे कहा है कि माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता और जो माफ कर देता है उसका दिल बहुत बड़ा होता है चंगाका जी <laughs> ये तू देख क्या रहा चल माफी मांग लड्डू I am sorry Pooja it's okay friends friends hello <laughs> जी hmm. hmm. ओ जी अगर ये दोनों दोस्ती कर सकते हैं तो हम दोनों क्यों नहीं दोस्ती हाँ जी ओ सिर्फ दोस्ती शोस्ती करना चाहता हूँ कोई प्रॉब्लम शॉब्लम है तो अच्छा आहो फ्रेंड जी ओ जी कर लो चित चित फ्रेंड्स ओके जी ओके ओ वो जी ओ बाऊजी शाऊजी नहीं दिखाई दे रहे कुछ खाना शाना बाऊजी तो मैं कह रही हूँ रुखसार मैं कह रही हूँ दाल में कुछ काला हैगा हम्म। अंजलि कहीं वो क्या कहीं वो हाँ मुझे भी यही लग रहा है है ना करेक्ट तुम्हें भी वही लग रहा है ना हाँ रुखसार तुम बिल्कुल सही सोच रही हो हम्म, हम्म वो मेरी दुकान हड़पना चाहता है हम्म। हाय अल्लाह क्या करूंगी मैं इस लड़की के साथ अंजलि मैं कह रही हूँ कि शायद वो तुमसे प्यार प्यार हाँ वाह वाह वाह रुखसार बेगम तुसी ग्रेट तो हो दिल्ली की सारी हम्म। लड़कियां मर गई हैं जो मुझसे प्यार शार करेगा चांदनी चौक में मुझसे कोई प्यार नहीं करता वो यश वर्धन का पुत्र थोड़ी ना प्यार करने वाला अंजलि मजाक मत करो मैं कह रही हूँ हाँ कह रही है बस कहती रहती वेरी बिग बड़ी shop is Chandni Chowk sweet this is the peda fifty rupees the K G this is the laddoo fifty rupees the K G this is Thakurain fifty K G free है ले जा क्या बोलते हो जोक था जी All I want तू लड्डू पेड़े नहीं लेगा वो Red Fort not here in Agra चल हाँ ये कब शिफ्ट हो जी अरे रेड फोर्ट कब का शिफ्ट हो गया आगरा और आगरे का पागल खाना यहाँ शिफ्ट हो गया हाँ।, हाँ जेब में नहीं टल्ला टिल्ला और मांग रहे लाल किला और दोनों पागल हेलो हाँ। भारत हलवाई कोई भी ओकेजन ओकेजन हो शादी या सगाई दोनों ही हो जाएंगे इतनी जल्दी है क्या कौन कौन मैं और कौन मैं कौन अरे कौन कौन क्या आपका नया दोस्त और कौन वो क्या है कि बच्चों ने मेले शेले जाने का प्लान बनाया सी ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪਲਾਨ ਸ਼ਲਾਨ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ केड़ा मेला ਉਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ हाय रबा ये मेले में आप इस मेले में आएंगे तो इस मेले की शोभा कुछ ज्यादा नहीं बढ़ जाएगी हाय रब्बा अगर आप हमारे साथ आएंगी तो हमारी शोभा ज्यादा बढ़ जाएगी कल शाम को चार बजे मेले में बाय बाय हाँ बाय शायद चुप को चांदनी रात में चांदनी की आंख में जाने की जब मुझे ने बोला सब बिटिया सूट बूट में या कन्हैया पैंट जाने को वाह आप बहुत अच्छा गाती हैं हाँ, हाँ।, हाँ वो आप हमेशा ऐसे कपड़े शपड़े पहनते हो हम्म वैसे जब पहनता हूँ तो ऐसे ही पहनता हूँ वरना मोस्ट ऑफ द टाइम तो यूं ही नंगा नहीं नहीं नहीं वो क्या है ना कि हमारे में कहावत है लखनऊ ना कुर्ता पठानी सलवार तब लगे मर्द वरना लगे बेकार हम्म वेरी चंगा वैसे आप खुले बालों में बहुत खूबसूरत लगते हैं लेकिन कमाल की बात तो ये है ना कि हम दोनों के बाजी का जन्मदिन एक ही दिन पे है ट्विंस हाँ, एक था बड़ा दिल और दूसरे थे बड़े बड़े बिल joke very funny funny funny funny रहने दीजिए ना अच्छे लगते हैं चूड़िया गोरिया कलाइया पहना दे मुझे हरी हरी चूड़िया अपना बना ले मुझे बाल इससे गया अच्छा तुसी सॉरी जी आप आ, तुसी कहिए ना अपना लगता है हम्म। अपना लगता ये कुछ ज्यादा हो गया सुनिए रायचंद जी हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं हाँ जी मैं सुन रहा हूँ जी वो क्या है ना हम्म। कि आप जो चाहते हैं ना वो हम आपको नहीं दे सकते क्यों हम्म, बस नहीं दे सकते अरे ट्राई तो कीजिए ना नहीं दे सकते ना बाबूजी आपको नहीं देंगे हाँ, बाबूजी से मैं मांग लूंगा हाँ, बाबूजी आपको हमारी दुकान क्यों देंगे अरे इसमें क्या दु, दुकान व्हाट दुकान अरे हमारी भारत हलवाई और क्या अरे केड़ी दुकान की बात कर रहे हैं आप आई डोंट नो दोस्ती तक तो सब कुछ ठीक था लेकिन ये अपनापन क्या होता है हा? घर तक आ गए और हैरोबा वो भी हो गया अरे दोस्ती की भी कोई लिमिट शिमिट होती है ना फिर हाँ? दोस्ती के अलावा भी कुछ रिश्ते होते कुछ रिश्ते जो हम समझते नहीं कुछ रिश्ते जो हम समझना नहीं चाहते चुप तो नहीं रहा कुछ रिश्ते जिनका कोई नाम नहीं होता सिर्फ एहसास होता चुप तो नहीं रहा कुछ रिश्ते जिनकी कोई दीवार नहीं होती सरहद नहीं होती चुप तो नहीं रहा ऐसे रिश्ते जो दिल के रिश्ते होते प्यार के रिश्ते होते मोहब्बत के रिश्ते होते चुका मुझे और एक बात और बता दो आपकी हलवाई की दुकान तो मैं हड़प कर ही रहूंगा चांद जलने लगा आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी धड़का ये दिल सांस थमने लगी ओ क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है पल सब कुछ रहा है बदल सपने हकीकत में जो ढल रहे हैं क्या सदियों से पुराना है रिश्ता ये हमारा के जिस तरह तुमसे हम मिल रहे हैं यूं ही रहे हर दम प्यार का मौसम से तुम जन्म जन्म मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी धड़का ये दिल सांस थमने लगी हाँ क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना रात जगने लगी शोलों के दिल में भी आग जलने लगी मैं ठहरी रही जमी चलने लगी धड़का ये दिल सांस थमने लगी क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सूरज हुआ मत्थम चांद चलने लगा आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा थोड़ी सी पागल है एक्चुअली हम्म, बिल्कुल पागल है टेढ़ी मेढ़ी शक्लें बनाती है बहुत बातें शातें करती और कुछ अजीब सी अदाएं हैं उसकी और मालूम है जहां पर भी जाती है वहां पर वास तोड़ देती है गमला गमला <laughs> गमला कहती है उसको लेकिन जब भी मैं उसके पास होता हूँ जाने मुझे क्या हो जाता है आई लव लेकिन थोड़ी सी पागल है एक्चुअली हम्म, बिल्कुल पागल है हम्म, नो mm, <laughs> पागल का नाम क्या है Naina she is the perfect girl for this family मैं तो बस आपकी राय जानना चाह रहा था मैं तो बहुत खुश हूँ नैना बहुत प्यारी बच्ची है तुमने राहुल से बात की न, उससे बात करने की क्या जरूरत है घर के फैसले वो तो नहीं ले सकता नैना ही इस घर की बहू बनेगी तुम्हारे घर की बहू टीचर अब ये सब कौन करेगा डैड डैड मैं आप लोग के साथ यहाँ क्यों नहीं रह सकता आप लोग मुझे बोर्डिंग स्कूल क्यों भेज रहे हो परंपरा बेटे परंपरा दादाजी गए थे मैं गया था भैया गए थे तुम इस घर की परंपरा तो नहीं तोड़ सकते ना नहीं राइट या right dad see hi Rahul ए लड्डू I love you very much okay और एक बात और याद रखना मां मुझे तुमसे ज्यादा प्यार करती dad stop it sorry I am sorry आप पहले ही कितना कुछ दे चुके हैं मुझे मैं मैं ये सब नहीं ले सकती सईदा राहुल और रोहन तुम्हारे बेटे हो सकते हैं तो क्या बेटी पर इतना भी हक नहीं है मेरा पूरा है पूरा हक तो है लेकिन ये बहुत ज्यादा है <laughs> अब बताओ निकाह का वक्त क्या तय हुआ रोहन वो का साहब रोहन सुनो मेरी बात सुनो Rohan no more crying on the phone okay bye खाने पीने का ध्यान रखना रोहन स्कूल पहुंच गए हे ये सब क्या हो रहा है कल रुखसार का निकाह है तो हम दोनों <laughs> ओहो सहीदा बहुत बहुत मुबारक हो आपको किसी चीज की जरूरत हो तो पूछ लीजिएगा जी शुक्रिया कल अगर निकाह के वक्त आप और भाभी जी तशरीफ हाँ वो मैंने राहुल से बात कर ली वो आ जाएगा वो राहुल बाबा आगे होंगे मैं मैं देख कर आती हूँ अभी आती हूँ सुनिए हम्म। कल सईदा के लिए बड़ा दिन है हमें भी वहां जाना चाहिए हम वहां कैसे जा सकते हैं नंदनी मैं समझ सकती हूँ मगर फिर भी एंड ऑफ डिस्कशन नंदनी हम वहां नहीं जा सकते हैं आप अगर कह दिया ना अर्ज करता हूं ना लखनऊ दा कुर्ता ना पठानी सलवार मर्द वो है जो दिल दे वरना है बेकार शर्माए देखे चोरी चोरी पन्नों की सहेली रेशम की डोरी छुप छुप के शर्माए देखे चोरी चोरी ये माने या ना माने मैं तो इस पे मर गया ये लड़की हाय अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह ये लड़की हाय अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह छुपता यार छुपाने से यार नहीं छुपता यार छुपाने से हाँ, रूप घूंघट में हो तो सुहाना लगे बात नहीं बनती यार बताने से ये दिल की बातें दिल ही जाने या जाने खुदा ये लड़की है अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह ये लड़का है घर तेरे आऊंगा मैं मेरी नहीं ये तो मर्जी है रब की हर जा रे जाइयो छोटी मोटी बातें ना बना ये लड़का है अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह ये लड़का है पन्नों की सहेली रेशम की डोरी के शर्माए देखे चोरी चोरी बाबुल की गलियां ना छड़के जाना पागल दीवाना इसको समझाना ये माने या न माने मैं तो इस पे मर गया ये लड़की ये लड़की है अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह तेरी हाय अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह कबूल है मुझे भी You're in love, aren't you? प्यार करते हो ना उससे जी पापा यस देखा नंदिनी मैंने क्या कहा था मैंने कहा था ना do I know my son all what आज मैं बहुत खुश हूं ना बहुत खुश हूं मैं बस एक वादा करो कि तुम उसे भी बहुत खुश रखोगे मेरी बहू को बहुत खुश रखोगे जी नैना को बहुत खुश रखोगे oh, <laughs> I'm so happy. ऐसे मुंह लटका के खड़े हो जैसे शादी हो चुकी है वैसे लड़कों का ये हाल शादी के बाद होता है ए राहुल क्या हुआ क्या नाम है उसका नैना काश नाम होता पर है नहीं नैना वो राहुल जब से मुझे याद है मैंने तुमसे प्यार किया है बहुत प्यार किया है लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं अगर मैं तुमसे शादी करना चाहूँ तो इसका यह मतलब तो नहीं कि तुम भी मुझसे शादी करना चाहो और अगर तुम्हें इस बात का बुरा लग रहा है कि मुझे बुरा लगेगा तो हाँ बुरा लगेगा बहुत बुरा लगेगा दर्द भी होगा लेकिन इससे हमारी ज़िंदगी तो नहीं रुकती ना राहुल और शायद कुछ सालों बाद मैं भी इस बात पे हंस लूँ कि मैंने भी किसी राहुल से प्यार किया था जो मेरा नहीं हो सका क्योंकि वह मेरा था ही नहीं और मेरी प्रेम कहानी अधूरी रह जाएगी पर मेरा काम करोगे राहुल अपनी प्रेम कहानी जरूर पूरी कर लेना करोगे ना मेरे लिए अब जल्दी से कुछ कह दो वरना भी रो दूंगी मैं भी Can I get a hug? No. Roy चंद ये नाम ये इज्जत हमारे पुरखों की दी हुई अमानत है इसका आदर करना इसका सम्मान करना हमारा धर्म है इस धर्म के बीच कोई मामूली मोहल्ले की लड़की आ जाए ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि जहां ये लड़की पली पड़ी है जहां से वो आई है उसका वजूद क्या है एक बार भी तुमने नहीं सोचा कि क्या वो लड़की हमारे संस्कार हमारी संस्कृति समझ पाएगी क्या ये लड़की हमारी रीति रिवाज समझ पाएगी क्या ये लड़की हमारे कायदे हमारे उसूलों को समझ पाएगी क्या वो इस परिवार की परंपरा का पालन कर पाएगी क्या वो तुमने सोच कैसे लिए कि वो हमारे परिवार का एक हिस्सा बन सकती है कैसे सोच लिया तुमने कि वो मेरे परिवार का हिस्सा बन सकती है कैसे सोच लिया सोचा कहा पापा सोचा तो बिल्कुल नहीं सिर्फ Yeah. अफसोस की बात तो यह है कि मैं खुद अपने बेटे को पहचान नहीं पाया मैं समझता था कि वो मुझे समझता है इस घर की परंपरा को समझता है मेरे जज्बातों को समझता है मेरी हर सांस को समझता है कितना गलत था मैं कितना गलत था मुझे तुम पर बहुत गर्व था आत्मविश्वास था मेरी शक्ति थी तुम मैं आपको कभी दुख तो नहीं देना चाहता था पापा मैं तो सिर्फ खुशियां देना चाहता था ये कैसा गम दे दिया मैं आपकी आंखों में आंसू कैसे आ गए आपकी आंखों में आंसू कैसे आप मुझे कभी माफ मत कीजिएगा पापा पर ये मत कहिएगा कि मैंने आपको दुख पहुंचा है कभी माफ मत कीजिएगा आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा वैसा ही होगा क्या वो लड़की हमारे संस्कार हमारी संस्कृति समझ पाएगी क्या ये लड़की हमारी रीति रिवाज समझ पाएगी क्या ये लड़की हमारे कायदे हमारे उसूलों को समझ पाएगी क्या वो इस परिवार की परंपरा का पालन कर पाएगी त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव Hodge. आज तुमने यह साबित कर दिया कि तुम मैं खून नहीं हो पल में पराया कर दिया पल, पल में पराया कर दिया लिए कोई जगह नहीं powiedział uma subcaminiani, Duque. मेरे बेटे के साथ जाओ वो जहां भी जाए मैं चाहती हूं उसे माँ की कमी कभी महसूस ना हो जिंदगी में कुछ बनना हो कुछ हासिल करना हो कुछ जीतना हो तो हमेशा अपने दिल की सुनो हुँ? हम्म? और और अगर दिल से जवाब ना आए तो अपनी आंखें बंद करके अपनी माँ और पापा का नाम लेना फिर देखना हर मुश्किल आसान हो जाएगी तुम हर मंजिल पा सकोगे जीत तुम्हारी होगी सिर्फ तुम्हारी और ये सब याद रखोगे ना रोहन क्यों जा रहे हो भैया हम्म। क्यों जा रहे हो प्लीज मत जाओ ना तो प्लीज सुनो एक वादा करो आज के बाद तुम किसी से कभी नहीं पूछोगे कि मैं क्यों गया मैं कहा गया okay Just remember. Just remember, I love you, Motu. I love you very much. माँ का ख्याल रखना और क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हो जाना listen, listen, listen. Lose some weight. Yeah. Yeah. yeah. आकाश के कमांड और राहुल की जिद ने इस परिवार के दो टुकड़े कर दिए दो टुकड़े कर दिए दो टुकड़े कर दिए बस बस वापस ले आऊंगा भैया आपको वापस ले आऊंगा भाभी आपका घर हमारा घर नंदिनी नंदिनी क्या गया अभी तो भूल ही गए हमें वक्त कहीं चला गया रुखसार ईद मुबारक हो भाई ईद मुबारक ईद मुबारक मुबारक हो बहुत बहुत अरे वाह कितनी खिल रही है कितना अच्छा लगा आप सब आए ईद मुबारक ईद मुबारक इतना बड़ा हो गया हाँ दोनों बड़े हो गए ना ये छोड़िए जी जो था जी नाम क्या रखा है हल्दीराम घसीटे राम आदाब आदाब आदाब आदाब ईद मुबारक आपको भी ईद मुबारक पहचाना जी हाँ। पहचाना Um, <laughs> अरे मैं वो वो वो वहाँ वो वो अच्छा! ये फेंकता है फेंकता है मुफ्त का शरबत पीने आए सो स्वीट आपकी अम्मी जान दिखाई नहीं दे रही अरे हाँ रुखसार अरे भाई अंजलि की क्या खबर है सब खैरियत से है आज सुबह ही बात हुई थी हमारा बहुत प्यार देना उनको हाँ, <laughs> आप सब बातें कीजिए हाँ, हाँ। मैं भी आती हूँ oh. अंजलि की भी क्या जिंदगी है कहा चांदनी हाँ। चौक और कहा <laughs> कहाँ चांदनी चौक और कहा कहाँ कहाँ क्या कहा चांदनी चौक वो तो दिल्ली में नहीं आप कह रहे थे कि कहीं गए हैं कहाँ गए कहा गए भाई <laughs> गए कहा गए कहा गए <laughs> कहा गए कहाँ गए कहाँ गए नहीं आप कह रही थी कोई जगह है जहाँ पर वो गए हैं अमेरिका अमेरिका शायद कोई ओ अल्लाह अमेरिका अमेरिका में पहले तो नहीं थे एग्जैक्टली <laughs> एग्जैक्टली पहले कहाँ थे चांदनी चौक में उसके बाद अमेरिका आपने तो बोला अमेरिका बीच में बीच में कहाँ थे किसके बीच में उनके बीच में उनके बीच में क्या है क्या है उनके बीच में उनके बीच में कोई जगह थी ना आप बोले थे कि उनके बीच में कौन सी जगह समझ में नहीं आ रहा है उनके बीच में कौन सी जगह होने वाली देखिए मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब उनके बीच में नहीं थे जब मैं अरे कौन सी जगह चुप इधर आओ हल्दीराम का थोड़ा खिसका है <laughs> वो लंदन गए एक दिन मैं भी जाऊंगा thank you London London hi London MBA dad अभी तो तुम आए हो बेटे अभी चले जाओगे यहाँ कुछ अधूरा सा लग रहा है डैड तुम तो अपना एमबीए यहाँ क्यों नहीं कर लेते हो यहाँ बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं लंदन ही क्यों जाना चाहते हो परंपरा डैड परंपरा दादाजी गए थे आप गए थे भैया गए थे तो मैं इस घर की परंपरा कैसे तोड़ सकता हूं राइट डैड क्या ले आओ माँ के लिए मां हम्म? माँ का दिल क्या चाहता है माँ का दिल बस यही चाहता है उसका बेटा जहां भी हो जैसे भी हो खुश खुश की खुशी माँ के हंसी में माँ के मुस्कान में जो बेटा देख नहीं पाता ये मेरा वादा है मां वो हंसी लौट आएगी वो मुस्कान लौट आएगी ये एक बेटे का वादा है और एक भाई का भी अपने जब दूर चले जाते हैं तो बहुत दुख जब दूरियां बढ़ा देते हैं तो और भी दुख होता है मॉर्निंग खाला गुड मॉर्निंग तुम्हारी साहबजादी उठी कि नहीं अरे हाँ पूजा हाँ हाँ हाँ इस नाम से उसे कोई नहीं जानता वो बुलाने जो सब बुलाते हैं It's raining men. इसलिए तुम इतनी खूबसूरत लगो नॉट फेयर मॉर्निंग मिसेस ब्राइशा मॉर्निंग स्प्राइटली आगे कमी नहीं बच्ची छोड़ने सच अ लवली डे हां सुबह सुबह तुम्हारा चेहरा देखा काय का lovely day now I am running late for work I was wondering if you could take Annette to school for me झूठी झूठी आजा thank you you you you thank you papa कौन है अंजलि आपकी होने वाली बहू oh, really? आज मैं तुझे कॉर्नफ्लेक्स खिलाती हूँ good morning morning morning mister राइशन morning sweetheart you like crash no don't worry girl don't like me also देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती अंजलि मेरे देश की धरती अंजलि अंजलि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है क्या हुआ हर सुबह तुम ये गाना गाती रहती हो तो बहुत अच्छा लगता है I I think it's wonderful you are my Madonna लेकिन क्या है ना यहाँ के नेबर्स हैं वो थोड़ा कुछ कंप्लेंट कर रहे थे <laughs> yeah. मैं उनके लिए थोड़ी ना गा रही हूँ मैं तो अपने बेटे को सिखाने के लिए गा रही हूँ आई नो आई नो लेकिन हा? हमारा क्रिश सब कुछ सीख चुका है बोलना हाँ सब कुछ सीख गया कुछ नहीं सीखा है इसे कुछ पता नहीं अपने देश के बारे में अरे हमारा धर्म हमारे संस्कृति हमारे संस्कार अरे हटो ना अरे हमारे देश के बारे में तो... मम्मी वो देश देश सारी जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कभी मत भूलना हाँ mom take a chill pill अच्छा ठीक है कुछ नहीं बोलूंगी हद्दत अंग्रेज बन गया जो तो पूरा बन जाए तो मेरा दस दी हाँ Why is she shouting? हाँ बन जा इसकी तरह बन जा हम्म वो कैसे बोलते हैं कैसे बातें करते हैं Oh hello Mrs Sprightly Oh hello sugar Would you like some tea? Yes with a drop of lemon in it Oh and something to go with it Some cookies, please. Cookies. Aha, lovely. Shut up. इससे तो अच्छे चांदनी चौक में थे क्यों Morning, Jean. Morning morning Hello, all you beautiful people. Fat free. Wow, Masi, you're looking hot, huh? Don't call me Masi. आओ जीज मैं बांध देती हूँ या लव या टेक इट <gasps> <gasps> <gasps> क्या हुआ अरे ये ये कैसे कपड़े पहने हुए तुमने ज्यादा लंबा हो गया ना आज anyway. <gasps> क्या अरे यू मी आई यू मी पीछे का कहा है इट्स बैकलेस बैकलेस दीदी मेरा इंतजार मत करना I will be late gym class today या ग्रो up grow अरे अंजलि अंजलि दाईजान कम है कम है आप लोग ये पूजा को इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के बाहर कैसे जाने देते हो हाँ Rahul, take a chill pill. Boo! Oh, damn. Ouch! Never buy things at sales. What a bright sunny day. Voila. Ooh, you're looking just wow. wow. Whatever. वैसे तुम दोनों भी काफी अच्छे लग रहे हो I think. Am I looking fat? Fat? P H A T. pretty hot and tempting. <laughs> gotcha. Uh, what are we waiting for? Christmas? Morning, guys. It's King's College Radio. It's 9.45 and who's just entered college? It's raining men. Hallelujah, it's raining men. Boo! Hey, <gasps> Boo! Hi, darling. <gasps> How are you this morning? Okay. Back to car. uh uh. Ah. Hi, Pooch. Hey, Leah. If I remember right, परसों के दिन भी यही पहना था ना तुमने आहा वाय तुम्हें काफी सूट करता है Ooh, you're such a... से है जानम Hallelujah. Hey, Robbie. Hey, Pooh. Whatever. Movie tonight? Tell me how it was. <laughs> सारा कॉलेज रॉबी पर मरता है And you? so much attitude He's nice, पर वो मेरे टाइप का नहीं है। Pooh, तुम्हारे टाइप का है कौन और कब मिलेगा You never know. वो कभी भी कहीं भी मिल सकता है शराब हम्म। शायद वो यहीं कहीं होगा ओ हम्म। गॉड oh ये कौन है सुबह सुबह जो पू को डिस्टर्ब कर रहा है स्टॉप टर्न अमेजिंग कौन है ये जिसने दोबारा मुड़के मुझे नहीं देखा हुए जी forever.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 <laughs> जानते हो रोहन दीदी हमेशा कहती है कि एक सुहागन बीवी और बहू का संगम होती है वो बीवी तो बन चुकी है बस बहू नहीं बन पाई और जीजा जी ऐसा एक दिन भी नहीं एक पल भी नहीं जब उन्हें माँ और बाऊजी की याद नहीं आती मगर वो कभी कुछ नहीं कहते घर में उनकी तस्वीर तो लगा ली है मगर एक बार भी उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखा यहां हम लोगों ने अपनी छोटी सी दुनिया बसा ली है रोहन दूर से देखो तो खुशियां ही खुशियां नजर आएंगी पर जितना पास आओगे उतना ही गम पाओगे क्यों आए हो तुम या रोहन अब क्यों आए हो मैंने भैया से वादा किया था पूजा कि मैं किसी से कभी नहीं पूछूंगा कि वो कहां गए क्यों गए पर आज मैं जान चुका हूं कि वो हमें अपना ही नहीं समझते और ये मैं नहीं सह सकता नहीं सह सकता मैं कुछ बिखरे हुए रिश्ते छोड़ आया हूं पूजा जिन्हें परिवार का दर्जा सिर्फ मेरा बड़ा भाई दे सकता है मैं अपने भाई को वापस लेने आया हूं अपनी भाभी को वापस लेने आया हूं पर यह काम मैं अकेला नहीं कर सकता मुझे तुम्हारा साथ चाहिए पूजा कहो तो मेरा साथ नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं हम्म, बिल्कुल नहीं oh come on geez don't be silly वो सोनिया का भाई है मेरा भाई तो नहीं और मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि सोनिया का कोई भाई है क्यों सोनिया कब पैदा हुआ तुम्हारा ये भाई भाई या Who's भाई भाई yes yes mister Raichand India से मेरा फर्स्ट भाई आ गया first I mean my first cousin हां ओके वो मेरे साथ नहीं रह सकता I live in a girls hostel so technical problem mister Raichand no no technical, no no no no no come come come come come oh come on जी, थोड़ी दिनों की तो बात है. नो हम्म, हम्म, उसे एक बार मिल तो लीजिए, please He's a lovely boy. I don't like lovely boys. मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी यहाँ पर आके रह ले. भाईजान आप समझाइए इसको प्लीज. क्यों सतारी तू उसे हाँ क्यों सतारी? रही? Oh stop it Kala. Look at the way she's talking. Yeah yeah. Oh come on Jeesh. इस बड़े से घर में कोई नहीं रह सकता. क्योंकि इस बड़े से घर में तुम लोग छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमते हो और मुझे अच्छा नहीं लगेगा कोई जवान लड़का के तुमको देखे और मैं इस घर का बॉस हूँ मैं इस घर की घंटी वो, वो, वो, क्या है क्या है नजर उतार रही हो और क्या किसकी नजर लग... ये ये पूरी फैमिली पागल है चांदी चौक के सारे पागल मेरे घर में या ऑल ऑफ देम दीदी सोनिया का भाई आया है उसे रहने के लिए कोई जगह नहीं है क्या हम उसे इस बड़े से घर में छोटी सी जगह नहीं दे सकते कुछ दिनों के लिए पूजा तुम राहुल को जानती हो ना हम्म। दीदी वो भारत से आया है भारत से मेरा भारत महान <laughs> नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं इज टू फूल यू सुनिए <laughs> ना वो भारत से आया है भारत से आया तो सर पे बिठा लूं क्या मालूम है भारत की आबादी कितनी है सब लोग यहाँ आ गए तो हम लोग कहाँ सोएंगे नहीं नहीं मैं ऐसा करता हूँ मैं हिद्रो एयरपोर्ट चला जाता हूँ वहाँ पर जाकर खड़ा रहता हूँ और जो भी भारत से है उसे कहता हूँ भैया भैया आ जाओ हमारे घर में आ जाओ हमारी भी पागल है she is absolutely mental Chandni yes yes yes I don't जा अभी आ रहा है इसी वक्त आ रहा है पूजा पूजा नो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 अच्छा सुनो hmm? अगर किसी भी चीज की जरूरत हो कुछ भी चाहिए हो तो मुझे पूछने की कोई जरूरत नहीं अच्छा सुनो क्या है thank you Pooja thank you very much you welcome No, not yet, <laughs> not yet. No, you're not at all welcome. अगर इस घर में रहना है तो यहां के कायदे कानून फॉलो करने पड़ेंगे no drinking no smoking no देर से आना और यहां से जितना जल्दी हो चले जाना रात को आठ बजे खाना नहीं तो भूखे सो जाना और आ, हम्म, हम्म, हम्म, दूर रहना बहुत दूर रहना ए तुम घूर क्या रहे हो और कही ना अच्छा लगता है ए मैं गाना गा रहा हूं जो अच्छा लगता है हा? ये आप मुझे ए ए क्यों बुलाते हो नाम है मेरा मालूम है नहीं कह सकता क्यों नहीं कह सकते ए बोला ना नहीं कह सकता <laughs> अच्छा आप मुझे इज्जत देना चाह रहे हैं इसलिए मेरा नाम नहीं ले सकते ये तो बहुत अच्छी बात है तब तो इज्जत मुझे भी आपको देनी होगी या, या। मैं आपको भैया बुला सकता हूँ भैया होगा तेरा बाप देखिए बाप में मत जाइए अच्छा जाइए हक बनता है आपका रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स डर गया हुँ? हम्म? मगर पू मुझे लगता है कि ये थोड़ा है इसका हाँ। मैं पागल हूं तुम ये जैकेट पहनो और हाँ। चलो यहां से मुझे पागल कर हाथ नीचे बाय रोहन हम तुम्हारे फोन का कब से इंतजार कर रहे थे sorry mom missing you guys यार एक्चुअली नॉट रियली लगता कि आप दोनों यहीं पर हो मेरे साथ dad you looking great dad and mom you look so beautiful mom by the way dad campus मुझे अकोमोडेशन एक हफ्ते के बाद दे रही है तो राइट नाउ मैं एक इंडियन फैमिली के साथ रह रहा हूं इंडियन इंडियन फैमिली क्यों why aren't you staying in hotel नहीं डैड बहुत अच्छे लोग हैं उनसे मिलकर ऐसा लगा जैसे कि मैं उन्हें बरसों से जानता हूं हंसता खेलता सुखी परिवार जैसे कि हम हैं Uh, uh, yeah. Uh, mom, dad, I'll speak to you later. take care. Love you. bye. Gone, gone, bye, yeah. bye. Bye. Bye. dad. Yeah. वो इसका बिल देंगे yeah. जाओ खाना खा लो गो वो भी फ्री है लॉन्ग डिस्टेंस शुभ सुबह सुबह शुरू हो गई मडोना हाय क्या हुआ क्या हुआ तुम यहाँ हो तो ये सुबह सुबह आरती कौन कर रहा है स्वयं सरस्वती हमारे घर में पधार चुकी है सच स्वयं सरस्वती हे प्रभु sorry Saraswati ji sorry Saraswati ji sorry ये सरस्वती को क्या हुआ एक मिनट हाँ। के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहू मैं किसकी स्वामी शरण गहू मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूँ मैं किसके ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे अरे अरे देखो ना पूजा सुबह सुबह सबको उठा दिया चल चलो प्रणाम करो प्रणाम करो प्रणाम दीदी प्रणाम जीजा जी प्रणाम ये कौन है हम्म। वो पहली बार पूरे कपड़ों में देख रहे हो ना इसलिए पहचान नहीं पा रहे हो ये आपकी साली है हमारी पू वेरी फनी लड्डू माने हाँ। माँ ने दिए सोचा कि प्रसाद में रख लू ठीक है वेरी नाइस आप टीका नहीं लगाएंगे आ, नहीं हाँ आ... हमारे यहाँ टीका लगाए बिना घर से कोई नहीं निकलता हम्म। माँ कहती है कि दिन अच्छा गुजरता है माँ कहती है तो लगाओ थैंक यू कभी खुशी कभी तो तुम्हारी बू कपड़ों में काफी अच्छी लगती है नहीं आई हाँ। लव हाँ। लड्डू शिट शिट अब ये किसने किया मैंने हाँ? टायर पंचर करने में मुझे बड़ा मजा आता है <laughs> ये जोक था था तो I don't like jokes I don't like you oh really हां ओह या ओह या या लिफ्ट एनीवन नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए अरे मेहमान भगवान होता है भगवान लिफ्ट देना ना थोड़ी ना कर सकते चलो जल्दी से जाओ चलो चलो मैं टैक्सी में चला जाऊंगा अरे टैक्सी के पैसे मुझे दे देना god you are so cheap so तो हूँ <laughs> अच्छा सुनो शाम को जल्दी आना क्यों वही ओके <laughs> हो गया ना भाई चलना इतनी बड़ी गाड़ी है तो मेरे घर में क्यों रहते हो इसी में सोया करो वैसे आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है क्यों नहीं वो आज मैच है ना India versus England at the over हाँ हाँ I know I know I knew last road चल रहा होगा you mind if the commentary ये गाड़ी चोरी की है नहीं तुम्हारी तो है क्या <laughs> तो फिर जो चाहे वो करो okay okay tremendous effort there Yeah! yeah! We got कुछ मिनट पे कुछ भी हो सकता है इंडिया का कोई भरोसा नहीं you never know with India रो तुमने मुझे भैया बुलाया नहीं तो हम्म। क्यों बुलाऊं नहीं क्यों ए, गाड़ी देख के जीत गए हाँ? जीत जाएंगे out, man. Welcome welcome to the prom selection हर साल की तरह पू डिसाइड करेगी वो किस लड़के के साथ प्रॉम यानी कॉलेज डांस जाएगी so yes presenting hello boys तुम सबको पॉइंट्स टेन पे दिया जाएगा मेरे साथ प्रॉम जाने के लिए तुम सबको तीन डिपार्टमेंट्स में ब्रिलियंट होना चाहिए and that is good looks good looks and good looks. <laughs> so, who wants to go to the prom with me? me. Are you ready, girls? Mm -hmm. Let's start. Follow me. Two. <sighs> Three. <laughs> Not applicable. <laughs> oh, never mind. Ah. five. Oh. Minus. Two. इतने भी बुरे नहीं हो मैं अपनी बात नहीं कर रहा था मैं तो तुम्हें पॉइंट्स दे रहा था I like it. I like it. प्रम पे मैं इसी के साथ जाऊंगी कहा जाएगा Hallelujah! गिर गया मैं जा रही हूं खो मैं जा रही हूं अच्छा सुनो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ फाइनली जल्दी कहो मेरे पास टाइम नहीं है कह दू कहो कह दूं? कहो ना तुमने हाँ तुमने बोलो ना दोनों हम दोनों दोनों दोनों दोनों गलत जूते पहने ये आजकल का फैशन है शायद तुम नहीं जानते कुछ you darling you were understand Robbie, Robbie, Robbie. For me? Of course, darling. hey, you. are looking great. And you, handsome hunk. How'd you do it? दीदी से कहना मेरा इंतजार मत करे. I'll be late. Right? Yeah. Gorgeous. Hey guys, the DJ will take a break for five minutes, but you guys can party on with the live band.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 यारा ये नशा क्या कम होगा Kedona, Kedona, you are my sonia. Start से स्टार्ट करो hi good morning any calls Vajpayee साहब का फोन था तुम्हें इंडिया वापस बुला रहे हैं any calls actually I am expecting call from dad today is a special day उनका आज आज डेट क्या है डैड 6 सितंबर वो पूजा मॉर्निंग बॉय आज के दिन ढंग के कपड़े नहीं पहन के आ सकती थी ये अजीब काले कपड़े कपड़े पहन के आ गई पता है मंदिर में सब घूर घूर के देख रहे थे अगर भगवान को देखने के बजाय सब मुझे घूर के देख रहे थे तो it's not my problem anyway black makes me look thin and green makes you look fat मिट्टी पाऊ देखा राहुल बाबूजी के जन्मदिन पर भी ऐसी अनाप शनाप बातें करती रहती है आज पिताजी का जन्मदिन है <laughs> आज बाबूजी का जन्मदिन है हाँ पू बनी पार्वती अब क्या हो गया तुझे ओ स्टॉप इट दीदी it's the Indian touch it's in लीजिए ना भोग का प्रसाद भोग का प्रसाद <laughs> चलो लेकिन जन्मदिन पर भोग तो हाँ जानती हूँ लेकिन हमारे बाबूजी बड़े मजाकी थे वो हमेशा कहते थे मैं चला जाऊं ना तो मैंने किसी चंगे दिन याद करी <laughs> इसलिए हर साल उनके जन्मदिन पर पूजा और मैं उनके लिए भोग रखते हैं और आज अगर वो पूजा को ऐसे देखते ना तो बेहोश हो जाते हैं दीदी वो आप सबके साथ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 नहीं सुनिए क्या बात है आज बहुत प्यारा रहा आपको हम्म आज आप जरूरत से ज्यादा वो क्या कहते हैं सेक्सी लग रहे no no no no no no no no no crush देख लेगा यहीं कहीं है वैसे ये तो मेरी लाइन होनी चाहिए थी छोड़ो जाओ हम्म, मेरा बैग और कोट लाती हूँ कमाल <laughs> give give give give thank you अच्छा सुनो हाँ। परसों करवा चौथ है वाओ तो मैं क्या करूं तुसी कुछ मत करो हाँ। हर साल की तरह Indian women's charity function lovely तुसी अपनी डायरी शायरी में लिख लेना ओके okay, लिख लूंगा I will see you bye bye तुसी जा रहे हो सेक्सी हां come here bite bite this is my apple ना हां oh. मेरा एप्पल क्यों खा रहे हो कभी हर जगह क्यों घुसता है बाय नमस्ते सो so, करवा चौथ हाँ हाँ परसों है तो आ, सरगी पहुंच गई आपकी सरगी सरगी आप सरगी नहीं जाती अरे करवा चौथी की तो रस्म है वो, वो हर सास अपनी बहू को कुछ भेजती है समथिंग अब आपकी सास ने आपको नहीं भेजा हम, हम... कोई बड़ा कोई बुजुर्ग तो भेजता होगा नहीं आप फिक्र न कीजिए इस साल आपको अपनी सरगी मिल जाएगी मेरी माँ वो आपको सब कुछ समझा देगी हेलो नमस्ते बेटा नमस्ते मेरा बेटा आप सबके बारे में इतनी बातें करता है लगता है मैं वही हूं आप सबके साथ वो भी हमारे छोटे से परिवार का एक हिस्सा बन चुका है बहुत परेशान तो नहीं करता <laughs> बेटा सर की वो है जो हर सास अपनी बहू को भेजती है मीठी मट्ठी बादाम सुहाग की निशानियां और ढेर सारा प्यार मैं भेज दूंगी समझो कि अपनी बहू को भेज दिया कभी ऐसा क्यों होता है कि पराए भी अपने लगने लगते हैं थैंक यू कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि अपने पराए हो जाते हैं अच्छा सुनो आज करवा चौथ का व्रत मैंने भी रखा है रियली really? किसके लिए ये वहां क्या हो रहा है जो यहाँ नहीं होता ओके okay. करवा चौथ का व्रत रखा है वो भी मेरे लिए क्यों हम आपके हैं कौन ए लड्डू खुद तो अपने भैया भाभी को तो कह नहीं सकते कि तुम उनके क्या लगते हो मेरे सामने बड़े शेर बनते हो हाथ छोड़ो हाथ क्यों पकड़ा हा? मेरा हाथ तो छोड़ो छोड़ दिया कह दिया तो आज यहां सबके सामने कह दिया कि वो मेरे क्या है तो क्या करोगी तुम हुँ? हम्म? बोलो नहीं कह पाओगे डरते हो कह दिया तो तो मैं सबके सामने अपनी दिल की बात कह दूंगी अच्छा ये बात है ये शर्त है मुझसे शर्त रखोगी तो होगी शायद यही चाहती हूं मैं लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड कहीं ये सपना तो नहीं सपना कोई इतना फट्टू कैसे हो सकता है वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई वट जोड़ी चलो भैया और भाभी को बधाई हो बधाई वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई भैया और भाभी को बधाई हो बधाई सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई भैया और भाभी को बधाई हो बधाई वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई अब तुम बोले छोड़िया जा दिल दे जले जा सोनी आज तू तो लगती वे बस मेरे साथ ये जोड़ी तेरी सजदी वे रूप ऐसा सुहाना तेरा चांद भी है दीवाना तेरा भी सलामत रहे सजन जी हाँ सजन जी यूं ही बीते सारा जीवन साथ में बोले चूड़िया बोले कंगना हाय मैं हो चले लजा सोनिए दिल ओ, हो जा जरा जरा हो And so are you. Hmm? Take it from the top. One, two, three, shoot! पागल पूरा का पूरा अंग्रेज बन चुका है मेरा बेटा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं क्या ख्याल कभी कभी लगता है काश हम भारत में ही रहते हम्म। और मेरा कृषि भी वही गाने गाता जिसे गाकर मैं बड़ी हुई थी <laughs> लेकिन अब हम यहाँ हैं और मैं माँ से मामे बन चुकी हूँ <laughs> तुम ऐसा क्यों सोचती हो अंजलि जुबान जो भी हो तहजीब तो तुम्हारी है ना हुँ? हम्म? फिर भी खाला वो बात नहीं है देख लिया <laughs> I milk and cookies anyone पागल वैसे दीजा दाईजा ये बच्चे कर क्या रहे वो बाबा के स्कूल में फंक्शन है ना उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं ये लोग ओ हम सब भी जा रहे हैं तुम भी आ रहे हो ना बेटे या मैं भी आई फंक्शन ओ गॉड अब इसका क्या करूं Let's try one more time. One more time. Okay, क्या कर रही हैं आप छोड़िए मैं कर लूंगा आप छोड़िए दहजान मैं कर लूंगा दहजान आप दहजान आप छोड़िए दहजान मैं मैं कर लूंगा दहजान आप दीजिए शांति थी मेरा दिल कह रहा था ये मेरा बाबा ही है ये अल्लाह कितना बड़ा हो गया है तू मेरा बाबा अपने डीजे से भी छुपाया मुझे भी नहीं बताया क्यों मेरा बच्चा अंजलि मैं तुझसे कहती थी ना देख देख ये, ये मेरा बाबा है ये मेरा बच्चा है मेरा बच्चा आ गया तू आ गया मेरे पास आ गया मेरा बाबा अंजलि भाई जल्दी गाड़ी की चाबियां कहाँ है पहचान अभी आई Mr. and Mrs. Hollisley, table two, please. Ah, the Ryshans. Hi. Mr. and Mrs. Ryshan? Mrs. Khan, and the lovely <laughs> Pooh. Uh, excuse me. On. <laughs> Yeah. and he is? He is, uh, He's family. he is family, yeah. Come. ओफ वो दीदी कहाँ गई है वो I'm so sorry. I'm so sorry. No, I didn't mind at all. Nor did I. Come, let's not bother. Why? No. आ जाओ, आ जाओ, come. हाय रोमा ये हमारा टेबल हैगा देखा खाना हमेशा हमें हाँ। पीछे की टेबल दे देते हैं इस सफेदी की चमकार को सामने बैठा देते हैं और हमें पीछे पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं हमेशा अरे छड़ो खाला कहाँ गया वो मुआ प्रिंसिपल जरा दिखाओ मुझे इतना शोर मत मचाओ जितने लोग हैं ये noise had to be Mrs Raish good evening आ गई कमीनी इज दिस योर टेबल या it's our table Mrs Pritely oh mine's right at the front over oh, there. ये थोड़ी ना क्वीन ऑफ इंग्लैंड है जो उसे सामने वाली टेबल दे दी। Gentleman we are about to start could you please settle down We should all settle down. Oh, hmm? हाँ, जा जा मुई कीड़े पड़े तुझे तेरा टेबल हिलने लगे तेरी कुर्सी टूट जाए same to you darling okay हम लोग बैठ जाएं welcome ladies and gentleman to the Millfield primary school annual day function okay दीदी वार्निंग बिहेव योरसेल्फ ऑलरेडी बहुत कंप्लेंट्स आ चुके हैं पिछले साल भी इसी फंक्शन पे बहुत तमाशा किया था तुमने कृषि परफॉर्म कर रहा है वेरी नाइस इसमें क्या बड़ी बात है There's no need to get so high. ए तू चुप कर बड़ी अंग्रेज मती फिरती है हाँ? I think पूजा हाँ ठीक- प्लीज I quite- मेरा बेटा स्टेज पर है एक सीटी तो बजाऊंगी नहीं नहीं नहीं सीढ़ी नहीं <laughs> no And our opening act is by Class 4, Do Re Mi from the Sound of Music, headed by Chris Reichand. <laughs> Oh God, who's Susan? I don't know her. I don't know her. Please sit down. Sit down. Watch it. हाय कितना स्वीट लग रहा ना मेरा बेटा <laughs> बिल्कुल तुम पे गया है स्वीटू स्वीटू भाई <gasps> गुरु मेरी बेटी की रक्षा करना ए, तुम्हारा बेटा परफॉर्म कर रहा है सरहद पे नहीं जा रहा है ले ले व्हाट ले this once for you mom मेरा बेटा मेरा <laughs> बेटा मेरा भी हम्म? <laughs> गा अपना डोरेमी जना गना मन नायक जय है भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात aja Krishi. You were amazing. Thank you, Masi. Don't call me Masi. Not here, at least. Yes, I am. Yeah. अच्छा ये बताओ थोड़े से तो नर्वस हुए होगे हाँ थोड़ा तो था लेकिन किसी ने मुझसे कुछ कहा और फिर सब कुछ ठीक हो गया रियली really?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 हम्म? बताया क्यों बताया क्यों घर वापस आ जाओ भैया प्लीज भैया घर वापस आ जाओ घर वापस आ जाओ भैया पापा ने भेजा है तुम हम्म। रोहन अब अब यही मेरा परिवार है यही मेरे लोग हैं यही मेरी दुनिया है जिस घर की तुम बात कर रहे हो वो तो मेरा कभी था ही नहीं ना कभी होगा तुम वापस चले जाओ जाओ तुम बस तुम्हें देख लिया अब तुम चले जाओ जाओ तुम तुम जाओ प्लीज़ जानते हो भैया बचपन में आप कहा करते थे ना कि मां आपको मुझसे ज्यादा प्यार करती मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था गुस्सा आ जाता था मुझे पर आज मैं आपसे कहना चाहता हूं भैया कि आप सही थे मैं आपको मुझसे ज्यादा प्यार करती है भैया बहुत ज्यादा प्यार करती और हमेशा करती रहेगी हमेशा करती रहेगी भैया मुझे पता डैड की कही हुई बात वो आज तक नहीं भूले वो नहीं आएंगे वो आएंगे रोहन वो जरूर आएंगे मैं अपनी जीजा जी को जानती हूं बस एक बार उन्हें माँ और बाबूजी से मिला दो एक बार क्या तुम ये कर सकते हो Good morning, Dad. Hey, Ron. What's up? You know, Dad, it's just amazing. कल रात मैंने एक अजीब सपना देखा मैंने देखा कि आप और मॉम मुझे सरप्राइज देने के लिए लंदन पहुंच गए really? फिर फिर क्या डैड अलार्म बजने लग गया ड्रीम ओवर आई मीन आप और मॉम मुझे सरप्राइज देने के लिए लंदन क्यों आओगे right dad yeah right Rohan yeah I am coming I am coming dad I have to go मैं आपसे बाद में बात करता हूं and dad love you dad miss you Bye. Bye, son. Bye. हो गया काम. Hey, Dad, how are you doing? What's up? Guess करो हम कहाँ हैं? कहाँ, Dad? London. London, what are you saying? <laughs> I don't believe it. ऐसा हो सकता है कि मेरा बेटा एक सपना देखे और मैं उसे पूरा ना करूं। You're the best, Dad. अच्छा ये बताओ बेटे तुम कहाँ हो? हम अभी तुमसे मिलना चाहते हैं। hmm. Not so easy, Dad. इतने दिनों के बाद मिल रहे हो। You have to buy me a present. Present? अभी यहाँ इस समय आप मुझे पांच बजे ब्लू वाटर शॉपिंग मॉल में मिलिए बेटे ये बताओ तुम्हें तुम्हें चाहिए क्या जो मुझे चाहिए डैड वो आपको वहीं मिल जाएगा the blue water mall yeah yeah, yeah, yeah, Johnny. Yeah, yeah, yeah, I'll call you later. You have a nice weekend. Yeah, yeah. Do you know if he has an eye cam? Um, no, no. Um, वो क्या होता है? Eye pack. No? चलो मैं देखता हूँ क्या हो रहा है क्या हो रहा है रसीद ढूंढ रही हूँ किस चीज की रसीद अरे कपड़े रिटर्न शिटर्न करने अरे रिटर्न शिटर्न कर रहे हैं तो खरीदते वरीदते क्यों हो इंडियंस ए बाबा सारे जैसे अच्छा हिंदुस्तान हमारा राइट माँ जब माँ के चमचे हेलो हेलो मीना जी तुझे टेप की थी सास भी कभी बहू थी कमाल दा ट्विस्ट हैगा बेटा मर गया ओ नो सच्ची सारा सस्पेंस ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ Mr Chadha Mr Chadha Mr Chadha please control Mr Chadha ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੀ ਜੱਪਿਆਂ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਪੱਪਿਆਂ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਪੱਪੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਓ ਜੀ ਲਓ ਚਲੋ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਚਲੋ अगली बार चड्डा ने मुझे किस किया मैं छोड़ूंगा नहीं उसको मैंने कहा था उसे तुम्हें किस करने के लिए ओके मेरी माँ जी चाहता है गले से लगा लूं पलकों में रख लूं मैं नजर में छुपा सुनिए सुनिए बोल के क्या हासिल कर लेता मैं आपका घमंड तो नहीं तोड़ पाता रॉन ये घमंड ही तो है ना डैड जो एक माँ को अपने बेटे से अलग कर देता है एक भाई को अपने भाई से जुदा कर देता है एक बाप को अपने मेरा बेटा नहीं है वो मैं नहीं मानता कि वो मेरा बेटा है बेटे का फौज निभाया उसने नहीं निभाया निभाया डैड निभाया हमेशा निभाया बस एक गलती हो गई उनसे मोहब्बत अगर आपकी किताब में यह गलती है तो गलती सही पर क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि अपनी बेटी की गलतियों को माफ कर दे आप तो सजा देने पर उतर आए ये कैसी सजा है डैड ये कैसी सजा है आप मेरी आंखों में आंखें डालकर कहिए कि आपको उसकी जुदाई का गम नहीं कहिए कि आपको उसकी याद नहीं आती कहिए कि आप उससे प्यार नहीं करते कहिए ना डैड कहिए ना मैं उससे प्यार नहीं करता नहीं करता मैं उससे प्यार कह दिया ना बस कह दिया ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया था सब कुछ दिया काश एक दिल भी दिया होता Patrice नहीं सोचा कि कैसा घर है जिसमें ना माँ की परछाई ना पिता का आशीर्वाद वापस चलो राहुल माँ और बाबूजी यही है यही है वो वो बड़े हैं वो बुजुर्ग है राहुल थोड़ी से नाराज है लेकिन अब माफी मांग लेंगे राहुल मैं जानती हूँ कि वो हमारे बिना उतने ही अधूरे जितना हम उनके बिना हम माफी मांग लेंगे राहुल बस वापस चलो अच्छा अंजलि अच्छा। तुम नहीं समझोगे किसी पराए को अपना करना और फिर पराया करना बात कदर तुम नहीं समझोगे वो बड़े बुजुर्ग दिल तोड़ने का हक उनको भी नहीं दिल तोड़ने का हक उनको भी नहीं ख्याल से उन्हें बुला लेना चाहिए यश और नदी आखिरी ख्वाहिश ਸੀ कि राहुल ज़रा इंतज़ार कर लो मैं जानती हूं और ज़रूर आएगा हमें किसी का इंतज़ार नहीं राहुल और अंजलि जा रहे हैं कल यहीं से जा रहे हैं घर तक भी नहीं आए आप अगर से जानते हैं हमेशा कहती हैं पति परमेश्वर है वो जो कहे वो जो सोचे सब सही राहुल को आप एक दिन इस घर ले आए सही उसे बहुत प्यार दिया सही इस परिवार का हिस्सा बन गया वो मेरी जिंदगी बन गया वो सही बिल्कुल सही फिर एक दिन वो चला गया गलत आपने उसे जाने दिया गलत एक माँ को उसके बेटे से जुदा किया आपने गलत हमारा परिवार बिखर गया गलत पति परमेश्वर कैसे हुआ परमेश्वर से तो गलतियां नहीं होती पितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदया जिस दिन से आप गए हैं भैया मां ने आपको सिर्फ इनकी आंखों से देखा इन्होंने एक मां को अपने बेटे से दूर रहने की शक्ति दी है आपको इनकी कसम है भैया सिर्फ एक बार आप घर आएंगे सिर्फ एक बार भैया चाहे वो एक पल के लिए क्यों ना हो चाहे वो एक दिन के लिए क्यों ना हो लेकिन एक बार भाभी को महसूस तो करनी दीजिए कि वो हमारे परिवार की बहू है उस घर की बहू है बस एक बार अपनी परछाई उस तस्वीर पे गिरने दीजिए जिसे देख देख कर माँ ने दस साल गुजारे हैं भैया प्लीज भैया सिर्फ एक बार फिर आप चले जाइए भैया आपको कोई नहीं रोकेगा कोई नहीं रोकेगा भैया उस दिन उस पल की याद में माँ अपनी पूरी जिंदगी गुजार लेगी भैया अपनी पूरी जिंदगी गुजार लेगी क्या आप माँ के लिए इतना भी नहीं कर सकते भैया क्या बेबसी है ये क्या मजबूरियां हम पास हैं फिर भी कितनी है दूरियां के भी नहीं आए नहीं आए लौट के आपने बुलाया कहा पापा मुझे बुलाना चाहिए मैं बड़ा हूं मुझे बुलाना चाहिए मैं बड़ा हूं मैंने सोचा आप मुझसे प्यार नहीं करते मुझे अपना बेटा नहीं मानते कैसे सोच लिया तुमने ये कैसे सोच लिया इन इन इन हाथों से पहली बार तुम्हें उठाकर इस घर में लाया था तुमने हमारा परिवार पूरा किया हमारा हर एक सपना पूरा किया कैसे सोचते तुमने कि हम प्यार नहीं करते मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं बेटे बहुत प्यार करता बस बस कह नहीं सका इन दस सालों में हर दिन हर पल मैंने तुम्हें कितना याद किया इतना याद किया कि जी चाहे कि मैं तुम्हें गले लगाकर कह सकूं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता बस बस कह नहीं सका बड़ों का गुस्सा है बड़ों का प्यार होता है बेटे गुस्से में कई भी बात को इतना बुरा मान कर रूट कर चले और मैंने तुम्हें बुलाया बेटे क्यों बुलाते आप बड़े मुझे यहां जाना चाहिए था मुझे यहां जाना चाहिए था क्यों नहीं आया तुम क्यों नहीं आया तुम ये तुम्हारा घर है तुम इस घर के बड़े बेटे हो मेरे बेटे हो तुम मेरे बेटे और अब अब तो बेटे मैं मैं बूढ़ा हो गया बूढ़ा हो गया मैं बेटे अब तो मुझे माफ कर दो अब तो मुझे माफ कर दो बेटे अब तो मुझे माफ कर दो माफ कर दो ハハハハ कभी कभी घर के बच्चे घर के बड़ों को सही रास्ता दिखा देते मैंने तुम्हें तुम्हारे भाई से सालों साल दूर रखा हो हो सके तो मुझे मुझे माफ कर दे मुझे माफ कर दे मुझे माफ कर दे